आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhuban 90.4 point सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आज के शो में हमारे साथ डॉक्टर अरुण पारिक जी हैं जो रोटरी क्लब के मेंबर भी हैं और साथ ही साथ सोशल वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट उनका है और बहुत सारे सोशल वर्क वो करते रहते हैं तो आइए आज के शो में डॉक्टर अरुण पारिक जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर अरुण पारिक जी मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आप सोशल फील्ड में किस तरह से सेवा देते हैं और एज ए प्रोफेशन भी आप इस फील्ड में जुड़े हुए हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि सोशल वर्क आप किस तरह से करते मैं हिम्मत नगर में लास्ट पैंतीस साल से डॉक्टर का काम करता हूँ और काफ़ी मेरे मेडिकल प्रोफेशन में भी जुड़ा हुआ हूँ फिर आज से तीस साल पहले में मुझे एक रोटरी को रोटरी में काम करने का मौका मिला रोटरी के प्रमुख के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया और हमारे यहाँ रोटरी क्लब की स्थापना हुई तब से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ और रोटरी में जैसे जैसे मैं काम करता गया तब मुझे भी सोशल वर्क करने में इंटरेस्ट जग गया और इसी के साथ साथ मैं चलते चलते चलते चलते 2005 और 6 में ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट जीरो थी जो पहले गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश ये तीनों मिलाकर जुड़ी हुई थी उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने पर मुझे बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ मिलने जुलने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला था इसी में से मेरा और और ये समाज सेवा का कार्य करने की बात हुई और उसी में से उत्साहित होकर मैं आज भी इस एज में भी आज मेरी एज सेवेंटी के आसपास की है तो उस एज में भी मैं ये मेरी जो काम है जो समाज सेवा की उसे मैंने जारी रखा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर अरुण जी मैं ये बात जानना चाहूँगा जैसे 25-30 साल आपको इस संस्था से जुड़ा हुआ हुआ तो शुरुआत में आपने हिम्मत नगर में कौन से ऐसे इवेंट्स किए जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे रोटरी क्लब के माध्यम से हो या अपने सोशल सर्विस के माध्यम से एक तो प्रोफेशन से ही मैं मेडिकल बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ तो काफ़ी महीने हमने स्पेशलिटी मेडिकल कैंप्स और डिफरेंट मेडिकल कैंप्स किए और उसी में मैंने एक्टिवली पार्ट लिया कुछ कुछ दिनों हमने काफ़ी पेशेंट्स भी देखे और सारे साल यही इसी तरह के प्रोग्राम करते थे ब्लड डोनेशन का काम करते थे फिर जो जो हैंडीकेप होते थे उनके लिए जयपुर फूट वगैरह का भी कैंप रखा करते थे ब्लाइंड के लिए जो कैटरक वाले जो पेशेंट थे उनके लिए हम कैटरक का ऑपरेशन वगैरह कर लेते थे और हमने काफ़ी चक्षुदान के लिए भी काम किया है और हम चक्षुदान भी कलेक्ट करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान था बच्चों की देखभाल रखना बच्चों बच्चों के आरोग्य लिए देखना और बच्चों के आरोग्य की जांच करना ये भी एक मैंने बहुत बड़ा मेरा अपना पेशा बना दिया है ऐसा मेरा सर्विस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं और उसी में से मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जो नवयुवान बच्चे हैं जो आने वाला भविष्य है हमारा भारत का उसे मैं सुदृढ़ और सशक्त बनाना चाहता हूँ तो उसी हिसाब से उसमें भी बड़े दाखिल एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे नेत्रदान की बात आपने बताया ये थोड़ा सा सेंसिटिव सिचुएशन होता है जहाँ पर हम लोग इस बात को रखते हैं तो बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं होता जबकि पता है कि नेत्रदान एक अच्छा महादान है और मरने के तीन घंटे बाद हम लोग दान दे सकते हैं लेकिन फिर भी लोग कन्विंस नहीं होते तो इसके लिए आप क्या क्या बताएंगे हम ये करते हैं कि हम पहले ही जो कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं किसी एक फंक्शन के लिए इकट्ठा किए हुए लोगों को पास चलते हैं वहाँ उनको चक्षुदान की महत्वता बताते हैं और उनसे हम वो प्लेज लिखा देते हैं प्रतिज्ञा पत्र उनसे साइन करवाते हैं और इसको ठीक तरह से फ्रेम करके उनके ही घर में लगा देते हैं ताकि उनको याद रहे कि जब इनका ये हो जाए तो इनकी ये ये चीज़ काम में आए और वो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहा दूसरा हमारे दोस्तों में हमारे रिलेशन में हमारे पहचान वाले लोगों में जब भी डेथ होती है तो हम तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि इनकी आंखें दान दी जाए जब ये कुछ नहीं कामने आने वाली है तो ये किया जाए तो इससे हमने काफ़ी लोगों से ये सारा सहकार मिला है और हम काफ़ी चक्षुदान इकट्ठे कोई ऐसा सिचुएशन बताइए जहाँ पर आप गए और वहाँ उन लोग रेडी नहीं थे फिर बहुत कन्विंस करना पड़ा ऐसा कुछ होता है हम जो समाज में रहते हैं वो समाज काफ़ी शिक्षित समाज है तो जैसे ही ये बात करते हैं कि एक अच्छी चीज़ है और इस चीज़ को करने की ज़रूरत है तो मैंने आज तक ऐसी कोई ऐसा कोई आनाकानी और ऐसी कोई बात देखी नहीं कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि लोगों का कोई इसमें हिचक है कुछ और हमें कोई हिचक का सामना नहीं करना पड़ा है जैसे हमने बात रखी लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया हमने ले लिया और ये काम चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जीवन में जैसे कि हम लोग बात करते हैं जब भी हर एक व्यक्ति का लाइफ में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते रहते हैं और कहते हैं धूप और छाव ज़िंदगी के दो मकसद हैं तो इसमें आपके लाइफ में एज ए डॉक्टर आप क्या चैलेंजेस फेस करते थे या कौन से चैलेंजेस आपको लग रहा था कि ये चैलेंजेस मेरे पास आए हुए हैं ये तो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ मेरे पास तो हर रोज हर दिन हर सुबह से शाम तक में कुछ न कुछ चैलेंजेस आते ही रहते हैं और चैलेंजेस फेस करना तो हमारा हर रोज का एक हैबिट बन चुका है मेन इवेंट बताइए जहाँ पर आपको लगा कि हाँ थोड़ा ये कुछ ज़्यादा है जब मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए पसंद किया गया तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने की बात मेरे लिए बहुत चौंका देने वाली बात थी क्योंकि मैं तो प्रो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ मुझे ऐसी कोई बात तो उसमें करनी नहीं थी और ये इस तरह से एक पूरा माहौल जो पाँच छः हजार लोगों को जो संगठित करना उनको संगठित किए हुए रखना उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और उनके कुछ काम करने के लिए डायरेक्शंस देना ये सारी बातें थी जो वो मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए मेरे लिए एक चैलेंजेस थी but I did it very well चलिए बहुत की बात आपने बताया और भी बहुत सारी बातें हम लोग डॉक्टर अरुण जी से करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक radio station radio Madhuban 90.4 FM सुनते रहो मस्कराते रहो सिटीज का सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhu 90.4 point सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुण पारिक जी से जो हिम्मतनगर से बिलोंग करते हैं और एज ए रूटीन वो बहुत ही सेवा करते हैं अभी वर्तमान में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा अभी कि आने वाले फ्यूचर में किस तरह के आप अपने लाइफ में क्या सोशल सर्विस में नयापन लाने वाले हैं उसके बारे में सोशल सर्विस आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसी को उसी तरह से मैं चालू रखना चाहता हूँ हाँ हो सकता है कि मेरी सेहत कितना मेरा साथ दे रही है क्योंकि अब उम्र के साथ साथ जो कुछ भी हमारी कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हमारी कमजोरियाँ होती है वो हमें काम करने के लिए रोक रही है मगर फिर भी मैं आज तो इतना उत्साही हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कर सकें तो यही चीज़ें करने की और हिम्मत नगर के बारे में बताइए थोड़ा सा क्योंकि आप वहाँ से आए हैं तो हम जानना चाहेंगे कि हिम्मत नगर पहले जैसे तीस चालीस साल पहले कैसे था आज कैसा है और आने वाले समय में किस तरह का हिम्मत नगर होगा आज हिम्मत नगर एक बहुत बड़ा अर्वाचीन पूरा विकसित शहर बन चुका है मैं मेरा हिम्मत नगर में आना हुआ था आज से पैंतीस साल पहले और जब मैं आया था तब हिम्मत नगर की आबादी भी पंद्रह सौ पंद्रह हज़ार बीस हज़ार की थी आज ये डेढ़ लाख हिम्मत नगर में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी आज काफ़ी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई है और मैं मानता हूँ कि शायद आपके घर में जो टाइल्स लगाई गई है वो प्रत्येक स्टाइल्स हिम्मत नगर से बनी हुई है क्योंकि हिम्मत नगर में बहुत बड़ा टाइल्स का उद्योग है और जो सारी ब्रांड जो अच्छी ब्रांड वाली जो आपको जो मिल रही है वो सारी टाइल्स से हमारे यहाँ बनती है दूसरा हमारा और एक बहुत बड़ा अच्छा काम है वो डेयरी उद्योग है डेयरी उद्योग में बहुत बड़ा काम किया है हमारी साबर डेयरी ने तो इसी की ये दोनों चीज़ की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लोगों में भी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है और जो आजकल जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है उसी के साथ दौड़ते हुए हिम्मतनगर भी उसी विकास में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है और इसमें ग्रामीण के लोग कितने जुड़े हुए हैं ग्रामीण बना गांव कितने आते हैं गांव काफ़ी हिम्मतनगर के आसपास के गांव अगर लिखें तो सौ से भी ज्यादा छोटे छोटे गांव हैं मगर छोटे छोटे टाउन है ऐसा मैं कहूँगा गुजरात की ये ट्रेडिशन रही है कि गुजरात एक विकसित प्रदेश है लोग भी काफ़ी जागरूक हैं और लोग भी काफ़ी एजुकेटेड और शिक्षित हैं उसी की वजह से ये गुजरात में ये सारी जो गांव की जो विकास है और जो गांव में भी जो होना चाहिए वो जो शहर वाली हर हर चीज़ आपको हमारे नाने छोटे छोटे गाँव में भी दिखाई देगी एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपको क्या लगता है पूरे हिम्मत नगर को देखने के बाद कि इसमें कौन से जगह पे काम होना चाहिए किस कैटेगरी में काम होना चाहिए या किस जगह पे काम होना चाहिए किस एरिया में काम होना चाहिए आपको क्या लगता है मुझे लग रहा है कि दो चीज़ मैं हमारे लोगों में देखता हूँ एक चीज़ तो ये है कि इनके पास शिस्त का शिक्षण नहीं है मैं मानता हूँ कि हमारे समाज को कुछ शिस्त की बात कहनी चाहिए वो आते हैं कुछ काम करने के लिए और करते हैं और कुछ और ये ये जो चीज़ है वो मैं नोटिस करता हूँ कि वो ठीक नहीं है तो हमें हमारी जनता को ये शिस्त ये शिक्षण देना चाहिए कि उनमें शिस्त का विकास हो और शिस्त को पालन करने की एक बड़ी अच्छी इच्छा हो सके और इसी बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम हम विश्व में काफ़ी गंदे हैं हमारी जो जो हमारी जो सिस्टम है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि उसमें किस तरह से सुझाव लाएं और किस तरह से हमारे समाज को हमारे वातावरण को हमारे शहर को हमारे घर को हम स्वच्छ रखना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर स्वच्छ रहे तो हम कचरा उठा के बाहर डाल देते हैं और बाहर मिला कि कचरा यहाँ है तो इसको ठीक करके एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर डाल देते हैं मगर उसको साफ सुथरा रखे ऐसी एक स्वच्छता की शिक्षण मैं मानता हूँ कि जो क्लीन भारत की माहिम अभी जो चल रही है वो मैं मानता हूँ कि आगे बढ़े और इसका विकास हो और सारा भारत जो पहले जैसा था निर्मल शुद्ध पवित्र भारत ऐसा भारत क्या बात है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक बहुत ही सुंदर सपना जो आपने देखा है अपनी आंखों से मैं चाहूँगा कि वो सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो और जिन्होंने भी इस बात को सुना है हम हमें आज सुन रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप भी अपने घर के आसपास में अगर कचरा फेंकते हो कचरा को एक सही जगह पर रखिए जहाँ से उसका फिर निकास भी अच्छी तरह से हो उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो जैसे बायो फर्टिलाइज़र में उपयोग हो या कहीं ना कहीं खेती में उसका खाद के रूप में उपयोग हो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जिससे क्लीननेस भी बना रहेगा और हमारा कचरा का सदुपयोग उपयोगी होगा और जाते जाते मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब क्योंकि रेडियो से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज एक संदेश अपनी तरफ से बस संदेश यही देना चाहता हूँ कि जीवन भर खुश रहो आनंदित रहो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और मैं भी यही मैसेज दोहराना चाहूँगा आप सभी खुश रहें मस्त रहें आनंदित रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर अरुण जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक radio station radio Madhuban ninety point सुनते रहो मुस्कुरा शुक्र